स्वर सद्भाव के लिए युक्ति श्रुति स्मृति तो प्रमाण है और उनको श्रुति स्मृति को अर्थवादी से नहीं कल्पना कर सकते हैं क्योंकि कर्म प्रकरण में नहीं है और ज्ञान उत्पादक है और ज्ञान उत्पन्न होने पर उसका बाध भी नहीं होता है कभी ज्ञान होने के बाद नेदम रजतम बाध हो जाता है तो पूर्व ज्ञान ब्रह्म है और श्रुति में कहीं कहीं कुछ कहा गया उसका निषेध किया गया ईश्वर का कथन किया गया किंतु ईश्वर का तो निषेध नहीं किया गया प्रतिषेधाच ईश्वर नास्ति से कोई प्रतिषेध नहीं ब्रह्म का रूप का द्वैवा ब्रह्म रूपे मूर्तम चैवा अमृतम च ऐसे कह करके नेत नेति का निषेध कर दिया तो पूरा पीछे कहता निषेध नहीं किया ईश्वर है इसलिए ये बात नहीं ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं प्राप्ति हो तो निषेध करेंगे अप्राप्त प्रतिषेध क्यों होगा मां हिंसा सर्वभूतानि हिंसा का निषेध किया गया क्योंकि प्राप्ति राग से है यहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं तो क्यों निषेध करेंगे सिद्धांत ने कहा न्याय तो कहा गया ईश्वर सद्भाव में है और यजेत तो स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा ये सिद्ध होता है याग स्वर्ग साधना किंतु याग से स्वर्ग मिलने के लिए अन्य को ईश्वर काल अदृष्ट कारण नहीं है ऐसा तो निश्चय नहीं किया गया ईश्वर काल अदृष्ट है ही देश काल अदृष्ट ईश्वर कारण होगा और बिना निमित्त केवल कर्म से कोई फल नहीं मिलता है कहाँ से चलेगा न च विनष्ट व्याग टीका में इतस्य ईश्वर फलदाता वक्तव्य ईश्वर फलदाता मानना चाहिए क्योंकि प्रध्वस्त से याग से कारण तो है याग तो नष्ट हो जाता है अभी वो कारण स्वर्ग का कारण हो नहीं सकता है क्योंकि कारण होने के लिए चाहिए कार्य के पूर्वक्षण में रहना चाहिए नियत पूर्वक्षण सत्वम ही कारणत्वम पूर्वक्षण में जो रहेगा वो कारण हो सकता है पूर्वक्षण नहीं रह कर कारण नहीं हो सकता है न च अपूर्व द्वारा उपपद्यते कहते वो याग नहीं रहने पर भी आग का अपूर्व रह जाएगा वो फल देगा कुठार नहीं रहने पर कुठार व्यापार से एक उच्छेदन हो जाएगा व्यापार वाला रहे तो तो व्यापार संबंध से उसका कार्यजनकत्व तो कल्पना करेंगे उसमें किंतु असति द्वारवती द्वार तो अनुपपत्ति द्वारवती द्वार है व्यापार व्यापार वाले याग याग जो नष्ट हो गया तो व्यापार अदृष्ट होकर के स्वर्ग देगा ऐसा नहीं व्यापार नष्ट रहेगा कुठार नष्ट हो गया कुठार नाश होने पर कुठार का व्यापार से काट का काष्ट का छेदन ऐसा नहीं होता है पूर्व पिछले ने कहा था औषध पान करने से रोग नष्ट होता है औषध अभी पान किया आरोग्य होता है कुछ दिन के बाद तो औषध पान औषध समाप्त हो गया तो सिद्धांत कहते हैं न च औषध पान आदि दृष्टांत औषध पान खाली से इतने मात्र से औषध नष्ट हो गया आगे फल देता है नहीं औषध पान करने पर औषध का अवयव देह में रहता है औषध औषध आदि अवयवा नाम संस्कृता नाम संस्कार पाक होता है देह में जाकर शरीर में रहता है उसका अवयव रहता है अवयव रह करके फल काल पर्यंतम अनुवर्तना नाम एवं कालांतरीय फल हेतुत्वाद इत अभिप्रत्या औषध सेवन करने से संस्कार होता है वो काल आदि से पाक होता है अंधवे रह करके तो परिपाक विशेष हो करके फिर आरोग्य देता है आरोग्य होने तक औषध का अवयव अंदर रहता है पेट में उसका जाकर विषय में परिणाम होता है कुछ क्रिया होकर के आरोग्य होता है संस्कृत नाम फल काल पर्यंतम अनुवर्तना नाम फल आरोग्य है फल आरोग्य पर्यंत औषध के अवयव रहते हैं अंदर देह के अंदर रह करके ही आरोग्यजनक होते कालांतर्य फल हेतुत्वाद कालांतर्य औषध पाने की अपेक्षा आगे कुछ दिन के बाद फल होता है आरोग्य आरोग्य का हेतु होता है औषध का अवयव औषध बिल्कुल समाप्त हो गया आगे आरोग्य होता है ऐसा नहीं है इति अभिप्रेत न च विनष्टोपि याग कालांतर फल होती याग नष्ट हो गया खाली व्यापार रह कर कालांतर फल देगा ऐसा नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा सेव्य बुद्धिवत सेवकेन नहीं ठीक है मैं कथन तरी ईश्वर ईश्वरवाप नष्टस्य फलदाता उपपदेते पूर्व मीमांसा को पूछता है आप तो कह तो याग नष्ट होने पर फल नहीं देगा तो याग नष्ट होने पर ईश्वर भी कैसे फल देगा कथन तरी वापि नष्टस्य यागस्य जो याग नष्ट हो गया उसका फल ईश्वर भी कैसे दे सकता है याग तो नहीं रहा याग का फल कैसे होगा ईश्वर वापि नष्टस्य फलदाता जो बीज को भून दिया ईश्वर आकर उसको अंकुर बना देंगे ऐसा कैसे होगा यदि बन जाएगा तो अपने ईश्वर के बिना भी हो जाए ये शंका करने अभिप्राय तो सिद्धांत ही कहता है तो सेव्य सेव्य बुद्धिवत भाष्य में हां सेव्य बुद्धिवत सेव्य बुद्धिवत सेवकेन सर्वज्ञ ईश्वर बुद्धौ तु संस्कृतायाम यागादि कर्मणा विनष्टेपि कर्मणि सेव्यादिव ईश्वर फल ईश्वरात फलम कर्तुर्भवती युक्तम इसे दृष्टांत देते हैं सेव्य बुद्धिवत सेवक न सेवक सेवा करता है तो सेवा की बुद्धि राजा आदि जानते इसने ये सेवा की सेव्य बुद्धिवत सेवक न सेवक के द्वारा सेव्य की बुद्धि होती इसने ये कर्म किया इतने दिन किया इसी प्रकार कर्म करने पर सर्वज्ञ सर्वबुद्धो तो संस्कृतायाम याग आदि करेंगे तो ईश्वर सर्वज्ञ उनको मालूम है कौन क्या पुण्य पाप कर्म करता है कौन क्या चिंतन करता है इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि में संस्कार होता है संस्कार ही बुद्धि में आरूढ़ हो जाना जान लेना ये कर्म कर्म किसने क्या कर्म किसम किया ऐसा संस्कार पर आगे फल देंगे यागादि कर्म नाम विनष्टे भी कर्मणि इससे व्याधि विसर्प यागादि कर्म नाम अनुसार है ना नहीं यागादि अच्छा तृतीया ठीक है यागादि कर्म जैसे सेवक है ना इस प्रकार यागादि कर्मणा संस्कृतायाम ईश्वर बुद्धो यागादि कर्मणा ईश्वर बुद्धो संस्कृतायाम यागादि कर्म के द्वारा ईश्वर बुद्धि में संस्कार होने पर विनष्टेपि कर्मणि सेव्यादि ईश्वरात् फलम कर्तुर्भवति कर्मण विनष्टे भी कर्म नष्ट होने पर भी जिस प्रकार कर्म सेवक करता है वो कर्म तो नहीं रहता है तो सेव्य से जिस प्रकार सेवकों को फल मिलता है राजा फल देते बाद में सेव्य को वेतन आदि देते हैं सेव्याद इव सेव्य राजा आदि से जैसे फल मिलता है इसी प्रकार ईश्वरात फलम कर्तुर्भवती सेवा कर्म नष्ट होने पर भी सेवक के द्वारा सेव्य की बुद्धि में संस्कार होता है तो सेव्य आगे फल देता है कर्म नष्ट होने पर भी सेवा रूप कर्म नष्ट होने पर भी इसी प्रकार ईश्वर बुद्धि में याग आदि कर्म के द्वारा ईश्वर बुद्धि में संस्कार हुआ तब याग नष्ट होने पर भी ईश्वरात फलम कर्तुर भवति याग आदि कर्ता का फल होता है पुण्य पाप कर्ता को ईश्वर फल देते हैं इति युक्तम टीका में एतत कर्म अनेन अनुष्ठितमिति कर्मणा ईश्वर से वारोह एव कर्मणा संस्कार तदवसाद विनष्टे विकर्मणि स्वरात फलम युत ईश्वर बुद्धि में संस्कार क्या है ईश्वर बुद्धि तो शुद्ध है ये कर्म करेंगे तो बुद्धि में शुद्धि क्या हो जाएगी संस्कार एतत कर्म अनेन अनुष्ठितमिति इस कर्म इसने किया पुण्य अथवा पाप कोई छिपा करके पुण्य पाप कुछ भी करे पुण्य कर्म करने से भूलना जरूरत नहीं कि मैंने किया मैंने किया मैंने पुण्य कर्म किया ईश्वर जानते हैं पाप कर्म को कोई नहीं बोलता है तो भी फल मिलता है ईश्वर जानते बल्कि पुण्य कर्म कर कहेंगे तो धर्म क्षरति कीर्तनात् कथन करने से नष्ट हो जाता है और कथन करने से पाप नष्ट होगा तो कहना के क्या कहना चाहिए पाप कहना चाहिए नष्ट करने के लिए पाप को छिपाते पुण्य को कहते क्या श्लोक है कर्मनाशा जलस्पर्शात बाहु की घंडू के बाहु तोरणात न पहले धर्म चरति कीर्तनाद गंडू के बाहु तोरणाद करत्वय विलंघनाद धर्म करति कीर्तनाथ पहले क्या कर जब दो बार हो गए करतोय विलंघनाद गंडे के बाहु तोरणाद और कर्मनाशा जल स्पर्शात तीन है कर्मनाश के जल कर्मनाश के नदी उसके जल को स्पर्श करें तो पुण्य नष्ट हो जाएगा कर्मनाशा कर्म को नाश कर देती कर्मनाशा जल स्पर्शात गंड के बाहु तरना गौंड गंड की नदी कर के उसका तो जल को हाथ से तैर कर पार करना कहीं नदी आदि में और गंड की बाहुतरणा गंड की नदी को ऐसे बाहु से पार होने पर और धर्म क्षरति कीर्तनाथ कथन कर्म से नष्ट हो जाता है पाप कर्म कथन करते जो बहुत पाप करते हैं गोबद्ध आदि उनको कहा जाता है रामेश्वर सेतुबंध का दर्शन करे और रास्ता में ऐसे कुछ नियम निष्ठा के साथ जाए और पाप कर्म का घोष उद्घोष करके बोल करके जाए मैंने पाप कर्म किया मैंने गोबध कर लिया ऐसे बोलते बोलते जाए तो पाप कर्म नष्ट होता है नहीं तो बहुत पाप कर्म का फल होता है हाँ जो तीर्थाटन करते नदी कर्मनाश तो उसको पार नहीं करते जैसे इसे जाना चाहिए कर्मनाश को पार नहीं करे बिहार की तरफ कर्मनाश नदी कर तो एक नदी अच्छा अच्छा कर तो तो कर क्योंकि गंडक की बाहु तोड़ना आ गया करते हो कोई नदी है बंगाल में कर्मनाशा नदी है उनके पार करने से नष्ट हो जाएगा इसलिए जो तीर्थाटन कर जाते हैं अंत में जाते समय कर्मनाश कहीं नहीं आए ऐसा करके वापस जाना पड़ता है नहीं तो कर्मनाश जल करेंगे पार कर लिया तो नष्ट हो जाएगा पुण्य कर्म तो ये कर्म नष्ट होता है कहने पर इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है यदि कहे तो पाप कर्म किया तो बोलो पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए किंतु सब क्या करते हैं मैंने ऐसे कर्म किया मैंने गंगा स्नान किया कोई पाप कर्म किया गया गंगा स्नान करने के प्राश्चित करने के लिए ये नहीं बताएगा इसी के कारण में गया था प्राश्चित करने के लिए वो बोलेगा मैं गंगा स्नान करके आया किस लिए गंगा स्नान किया <laughs> कहना चाहिए इसे पाप कर्म हुआ था प्राश्चित करने के लिए गया उसको नहीं ये नहीं बोलेगा <laughs> तो ये कर्म ईश्वर जानते हैं अनेना एतत कर्म अनुष्ठितम इसी कर्म के द्वारा ईश्वर की बुद्धि में संस्कार का बुद्धो आरोह बुद्धि का विषय होना बुद्धि को मालूम हो गया बुद्धि ईश्वर बुद्धि में आरोह होना ईश्वर को ज्ञान हो गया इतने मात्र से कर्मणा संस्कार ईश्वर का तदवसात ईश्वर बुद्धि के कारण आगे प्रसन्नता से विनष्ट भी कर्मणि कर्म नष्ट होने पर भी ईश्वरात फल फलम युक्तम यथा अनेना अहम सेवित इति सेव्य बुद्धो संस्कृतायाम कालांतर विनष्टायाम अपि सेवायाम सेव्याद राजादे फलम भवति तद्वति इत्यर्थ राजादि सेव्य सेवक हे सन्यादि नौकरादि अनेन हम सेवित उसने मेरी सेवा की इसने राज्य की रक्षा की इसने युद्ध किया इसी प्रकार सेव्य की बुद्धि में सेव्य कौन है राजा की बुद्धि में संस्कार हुआ कि इसने कर्म किया ये संस्कार है बुद्धि का विषय होना फिर कालांतरे युद्ध समाप्त हो गया सेवा समाप्त होगी तो ये सेव्य राजा का मालूम है किसने क्या कर्म किया तो सेवायम सेव्याद राजादे फलम भवती अभी भी कोई कर्म करता सेवा करता है बाद में उसको फल वेतन मिलता है पुरस्कार मिलता है कोई विशेष कर्म करता है युद्ध में तो पुरस्कार मिलता है फलम भवती उसी प्रकार वो कर्म समाप्त होने पर भी सेव्य से राजादि से फल होता है इसी प्रकार यहाँ याग नष्ट हो जाने पर भी ईश्वर से फल मिलेगा यद्यपि लौकिकानाम कर्मणाम फल साधनत्वम चेतनाधीन दृष्टम पूर्व जी कहता है लौकिक कर्म और वैदिक कर्म में भेद है लौकिक कर्म कोई क्या सेवा कृषि आदि वो फल साधन चेतन कोई देगा ये तो दिखा गया ठीक है क्योंकि सेवा करने पर सेव्य देते फल कोई प्रयत्न करता है तो कोई चेतन कर्म फल देता है तथापि वैदिक से यागादे फलम दातारम बिनापि वाक्य प्रमाण्यात भविष्यति वैदिक जो कर्म यागादि कर्म ये विशेष कर्म है वेद भीत यजेत स्वर्ग काम ये वेद वैदिक कर्म है कार्य यजित वृष्टि काम वृष्टि की इच्छा तो कार्य करे आगे वृष्टि होती तो वहाँ कोई फलदाता कोई नहीं राजा आदि कोई नहीं अब कोई ईश्वर कहाँ कि, किसने देखा है इसलिए फलदाता राम बिना भी फल देने वाला कोई नहीं हो तो भी आग कर्म से फल मिल जाएगा नहीं तो श्रुति अप्रमाण हो जाएगी वाक्य प्रामाण्यात यजित स्वर्ग कामिति श्रुति वाक्य से प्रामाण्यात प्रमाणत्वात तो वाक्य प्रमाण होने से अवश्य ही फल मिलेगा कोई फल देने वाला नहीं हो तो भी फल मिलेगा लौकिक कर्म से विलक्षण है वैद्य कर्म वहां कोई फलदाता के बिना भी वाक्य प्रमाण होने से स्वर्ग आदि फल हो जाएगा ये पूर्व पक्षी कहने पर सिद्धांत कहता है इत न आशंकनीयम ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए आ सिद्धांति न तो पुनः पदार्थ वाक्य सत्यनापि देशांतरे कालांतरे वा सम सम स्वभावं जहति जहति बहुवचने जहति जहित जहित जहति बहुवचन पदार्थ स्वस्व स्वभाव न जहति पदार्थ अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं वाक्य भी सो वाक्य करेंगे सो बार कहेंगे अग्नि अनुष्ण अग्नि शीत अग्नि शीत कितने बार कौन से अग्नि ठंडी होगी बताओ सो बार कौन से अधिक कौन से <laughs> कुछ भी कहो वाक्य जीते नहीं कह दो देशांतरे कालांतरे ऐसा अच्छा, अभी नहीं किस अन्य देश में अग्नि ठंडी हो जाती है इस समय नहीं तो अन्य समय ठंडी हो जाएगी ना अन्य देश में ना अन्य काल में वाक्य भी जितने सब वाक्य कहने पर अन्य देश में अन्य काल में भी इसी देश इस काल में नहीं अन्य काल में कहीं ठंडी हो अग्नि अथवा अन्य देश में ऐसा नहीं होता है स्वयं स्वयं स्वभाव में अपना जो स्वभाव हो वो छोड़ता नहीं है न जहती नहीं देश कालांतर सूच अग्नि अनुष्ण होती देश कालांतर सूच देशांतर कालांतर में अग्नि अनुष्ण हो जाएगी कभी नहीं है जिसका जो स्वभाव अवश्य रहता है इसे भगवान भा, नहीं भाष्य के और कार्य सुरेश्वराचार्य ने कहा है आत्मा यदि वस्तुतः तो कर्ता भोक्ता है संसारी है तो स्वभाव नष्ट नहीं होगा कुछ भी करो वाक्य क्या कहता है वाक्य होता है ज्ञापक ज्ञान जनक कारक नहीं होता है वाक्य कौन से कोई कार्य हो जाएगा वाक्य से नहीं होता है वाक्य होता है ज्ञापक न कि जनक शब्द यथार्थ वस्तु जैसा है कहने से उसका ज्ञान हो जाएगा घट यदि है तो प्रकाश से दिखेगा और घट नहीं तो कितने प्रकाश जलाने पर घट दिखेगा बोलो घट नहीं है और लाइट जलाओ और प्रकाश जलाओ बहुत प्रकाश जलाओ तो दिख जाएगा ना घट जितने प्रकाश जलाए नहीं हो तो नहीं दिखेगा कम प्रकाश होने पर भी घट दिखता है इसलिए ज्ञान प्रकाश जिस प्रकार स्थित वस्तु का प्रकाशक ज्ञापक होता है इसी प्रकार शब्द भी ज्ञान जनक होता है वास्तव वस्तु जैसे उसका ज्ञान जनक नहीं कि कुछ उत्पन्न कर देगा जितने प्रकाश जलाओ घट नहीं नया बन जाता ऐसा नहीं प्रकाश तो केवल अंधकार को नष्ट कर दिया घटे तो दिखे दिखेगा इसी प्रकार शब्द वस्तु कुछ अलग नहीं कर सकता जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव रहेगा तो हाय वार्तिका ने आत्मा कर्त्रादि रूपस्चेन महाकांक्षी स्तरी मुक्तताम नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते दौष्ण्यवत तो रवे व्यावर्ते तौष्ण्यवत तो रवे आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेत आत्मा यदि कर्ता भोक्ता संसारी है आत्मा में यदि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो संसार वास्तव है कहते मां कांक्षी तरी मुक्तताम मुक्ति की चा छोड़ दो हो नहीं सकती मुक्ति कैसे होगी कुछ भी करो अग्नि ठंडी कैसे हो जाएगी यदि आत्मा जीव कर्ता भोक्ता संसारी जन्म मरण वाला है ये स्वभाव कभी नष्ट नहीं होगा कुछ भी करो शीर्षासन तीन घंटा करो अथवा प्राणायाम करो कुछ भी करो स्वभाव नष्ट नहीं होगा रहेगा नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते दौष्ण्यवत्रवे स्वभाव भावानाम स्वभाव नष्ट हो जाएगा कभी नहीं होगा दृष्टांत औष्ण्यवत रवे रवे औष्ण्यवत सूर्य अग्नि के जैसे उष्ण स्पर्श स्वभाव किसी देश में किसी काल में कभी नष्ट नहीं होता है इसी प्रकार जीव यदि कर्ता भोगता है उसका स्वभाव कभी नष्ट नहीं होगा इसलिए मोक्ष कैसे मिलेगा इससे सिद्ध होता है मोक्ष प्राप्त होता है तो जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव नहीं है अवास्तव होने से भ्रांति से जो सिद्ध होता है निश्चित होता है यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाएगा अरे वास्तव यदि है ज्ञान होने पर प्रकाश जलाने पर भी उसका नाश नहीं होगा इसे वस्तु का स्वभाव जैसे ऐसे रहेगा तो जैसे फल जड़ कुछ कर्म फल फल नहीं दे सकता है चेतन के बिना इसी प्रकार यहाँ भी कर्म से ईश्वर के बिना फल नहीं हो सकता है एवं कर्मणोपि कालांतरे फलम द्विप्रकार में थे विचार किया था पहले कर्म कोई कर्म दिष्टफला कोई अदिष्टफला भी अव्यवहित कोई अं, दिष्टफला अं, कर्म एक होता है दो प्रकार अं, दिष्टफल अदिष्टफल और अनंतरफल कालांतरफल अदिष्टफल हाँ तो अनंतरफल तो भोजन आदि है और कालांतर है सेवा सेवा आदि है तो प्रकार यहाँ स्वर्ग है अदिष्टफला औषध पान भी दृष्ट फल है यहाँ दो प्रकार है कर्मणपि कालांतर फलम दो प्रकार है दो प्रकार बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत कर्तृपिश फलम कृषि आदि विज्ञानवत सेव्य बुद्धि संस्कार विषय फलम च सेवा आदि बीज क्षेत्र बीज क्या है क्षेत्र संस्कार करेगा रक्षा करेगा ऐसा जो जानता है विज्ञानवत उसको जानने वाला कर्ता सापेक्ष फल कृषि आदि है और सेवा का फल देगा कोई सेव्य विज्ञानवत सेव्य विज्ञान जानने वाला जो सेव्य किसने क्या कर्म किया सेव्य बुद्धि संस्कार अपेक्ष फलम च सेवा आदि दो प्रकार हुआ यागादे कर्मण तथा अभिज्ञानवत फलत्व फलत्वानुपपत्तौ कारकांतर फलत्वात् कालांतर फलत्वात् कर्म देश काल निमित्त विपाक विभागज्ञ बुद्धि संस्कार अपेक्षम फलम भवितुम अर्हति याग भी कर्म है अभिज्ञानवत कर्तृपिछ फलत्वानुपपतो जो नहीं जानता है कर्म कर्म का क्या फल किसका कर्म क्या है ऐसा अभिज्ञान वाले कर्तृ सापेक्ष कर फल नहीं हो सकता है जो फल देगा वो विज्ञान वाला होना चाहिए जानने वाला देश काल है जानने वाला कालांतर फल होने के कारण सेव्य के समान कोई कर्म से संस्कृत जिसमें बुद्धि में संस्कार होता है जो जानता है किसने क्या कर्म क्या किस देश में क्या कर्म किस कर्म का क्या फल देश काल कर्म निमित्त इसका विपाक कभी किस कर्म पक्को होगा किस कर्म कभी फल देगा वही ईश्वर जानता है अपने को मालूम नहीं किस कर्म आगे फल देने वाला है कभी कौन कर्म फल देगा पता नहीं है तो उसका विभाग ज्ञ जो जानता है देश काल निमित्त कर्म विपाक को जानने वाले इस ईश्वर उसकी बुद्धि में संस्कार बुद्धि का विषय होने पर तदपेशम फलम भवितुम अर्हति यागादि फल टीका में शब्द से ज्ञान होता है अर्थ का ज्ञान होगा किसी अर्थ का ज्ञान होगा अन्वय योग्यानाम पदार्थानाम संसर्ग बोधकमेव वाक्यम न तो तद्बला दिष्ट पदार्थ स्वभा स्वभाव त्यक्तुम शक्यते इतर अन्वय संबंध अन्य योगान अज्ञानम पद का अर्थ है पदार्थ पदार्थ का अन्वय परस्पर संबंध होने की योग्यता हो तो तो पदार्थ का संसर्ग संबंध बोधक संबंध ज्ञान जनक पदार्थ में अन्वय होने की योग्यता होनी चाहिए जलेन से सिंचेत जल से सेचन करे जल में सेचन करने की योग्यता है योग्यता पदार्थ में योग्यता होने से जल से कारण सेचन करना चाहिए करो किंतु कोई कहता है वन्नी ना सिंचे वन्नी पदार्थ ज्ञान होगा वन्नी पद का अर्थ ज्ञान हुआ सिंचित शब्द का अर्थ ज्ञान हो गया किंतु वन्नी पदार्थ के साथ सिंचित पद का जो अर्थ ये दोनों अर्थ का अन्वय होने के लिए अन्वय संबंध होने के लिए योग्यता नहीं है वन्नी में सेक करणत्व तो नहीं है जल में तो सेचन गीला करना होगा वन्नी के द्वारा कैसे गीला आर्द्रीकरण होगा हां अन्य योग्य पदार्थ नहीं होने से वन्नी ना सिंचित कहने पर पदार्थ का तो ज्ञान हो जाएगा किंतु संसर्ग बोध ज्ञान वाक्यार्थ बोध नहीं होता है क्या कहते वन्नी से गीला करो वन्नी से सेचन करो ये क्या करना कैसे करना वन्नी ना सिंचित ज्ञान नहीं होगा फिर आगे पूछेगा कैसे वन्नी से गीला करेंगे वन्नी से कहते अब वन्नी ना सिंचित किंतु वन्नी ना सिंचित कैसे होगा तो जले ने सिंचित का तुरंत जाकर जल पानी डाल दिया वन्नी ना सिंचेत में पद का अर्थ पदार्थ ज्ञान होने पर भी पदार्थों का जो संसर्ग परस्पर संबंध उसका बोध नहीं होता है पदार्थ बोध वाक्यार्थ बोध में यही अंतर है पद सुन करके पदार्थ ज्ञान होगा जिसको शक्ति ज्ञान है पद का अर्थ क्या मालूम है अर्थ का स्मरण हो गया किंतु अर्थों का परस्पर अन्वय होकर के बोध होगा उसको कहते वाक्यार्थ बोध इसलिए वाक्यार्थ बोध को अन्वय बोध भी कहते हैं अन्वय का तो संबंध पदार्थों का परस्पर संबंध होकर के संबंध का जो ज्ञान होता है उसको कहते वाक्यार्थ बोध इसी प्रकार तत्वमसि वाक्य सुन करके तत्पद का तो ब्रह्म तुम पद का तो तुम समझ लिया तत्वमसि तुम ब्रह्म हो तो वहां पदार्थ बोध तो हो गया किंतु सोचता है मैं अल्प क्यों अल्प सत्यमान परिचय ना जन्म मरण वाला और तत्पदार्थ ईश्वर सर्वज्ञ सत्यमान व्यापक ये कैसे होगा ये उसको मालूम होता है कि पदार्थ में योग्यता नहीं एक तो कैसे होगा एक तो हो नहीं सकता निश्चय जितने बार तत्वम से सुनने पर भी कभी-कभी लगता है ज्ञान हो गया क्योंकि तत् का था ब्रह्म तुम का था तुम मैं ब्रह्म ये तो गुरु जी कहते तुम ब्रह्म हो ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म वहां पदार्थ बोध होता है वाक्यार्थ बोध नहीं होता है और पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है रट कर भी कोई कह देगा पदार्थ के लक्ष्यार्थ त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है तद तद्विषयक बोध चाहिए संशय विपर रहित त्वम पद का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य समाधि दशा संपन्नम ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को जाने वाला देह इंद्र मन बुद्धि प्राण आदि से विलक्षण शब्द से तो रट करके कोई कह देगा सरल है किंतु उसका ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान हो पदार्थ का लक्ष्यार्थ बोध भी नहीं होता पदार्थ बोध वाक्यार्थ बोध क्या होगा इसलिए पदार्थ बोध वाक्यार्थ बोध में भेद है पदार्थ का बोध पहले चाहिए हां जब ये पद सुना पद से अर्थ का ज्ञान हुआ पदार्थ का अन्य की योग्यता है तो उसका संसर्ग बोधक होता है वाक्य ये सामान्य नियम है वाक्यम अन्य ज्ञान पदार्थना संसर्ग बोधकमेव न तो तदबलाद दिष्ट पदार्थ स्वभाव त्यक्तुम शक्यते और वाक्य के सामर्थ्य से वनिर अनुष्ण वनिर अनुष्ण बड़े-बड़े लोग सब कहीं वनिर अनुष्ण तो दृष्ट पदार्थ पदार्थ में वनि पदार्थ में दृष्ट स्वभाव है उष्ण स्पर्श उसका नाश हो जाएगा वनिर अनुष्ण जोर से जोर से कहेंगे तो बड़े-बड़े लोग कहेंगे तो ठंडा हो जाएगा दृष्ट पदार्थ त्यक्त तो न शक्यते वाक्य के साम वाक्य के सामर्थ्य से तद बलात् वाक्य बलात् वाक्य प्रमाण इतने बड़े आदमी इतने लोग कहते हैं इतने लोग कहते तो मन ठंडी हो जाएगी ऐसा नहीं पदार्थ स्वभाव तक तो न सकते बीज क्षेत्र हो बीज क्षेत्र संस्कार परिरक्षा विज्ञानवत कर्तृवश्य फलम बीज क्षेत्र संस्कार बीज शुद्धि क्षेत्र का शोधन खेत में हल करते हैं महिला हटाते हैं पत्थर पत्थर हटाते घास उठाते उकाड़ते सहारे देते हैं परिरक्षा उसकी रक्षा सेचन आदि कर्म विज्ञानवान जो करता तदपि फलम कृषि आदि दृष्टम और सेवा क्या होता है सेवा कम च विज्ञानवान या सेव्य सेवा से जो जानता है सेव्य राजा आदि तद बुद्धि संस्कार अपेक्ष फलम उसकी बुद्धि के संस्कार कौन क्या कर्म करता है उनको स्वयं नहीं देखे किंतु किसके द्वारा उनके पास मालूम होता उनको राजा को के उनके लोग रहते हैं देखो कौन क्या कर्म करता है नहीं तो क्या गया तो बुद्धि में संस्कार बुद्धि का विषय होने पर उसके अनुसार फल मिलता है उसी प्रकार याग भी कालांतर फल है यागादे कर्मण कालांतर फलत्वाद कालांतर फल होने के कारण फल देने वाला कोई होना चाहिए जो कर्म देश काल निमित्त पक्वता का समय सब जानता है तो विज्ञानवत कर्तृपिच फलत्वानुपपतो अभिज्ञानवत अभिज्ञानवत कर्तृभिष फल हो नहीं सकता है जो नहीं जानता है किसने क्या कर्म किया किस कर्म का क्या फल है वो कैसे फल देगा अभिज्ञानवत जो जिसको ज्ञान नहीं ऐसे कर्तृ सापेक्ष फल हो नहीं सकता है याग आदि कर्म का फल तो फिर कैसे होगा कर्मादि विभागज्ञ फल तम भवित भवितमरति कर्मादि विभाग को जानने वाले कर्म आदि से देश काल निमित्त और कितने दिन में पाक होगा ये सब विभाग को किसका क्या कर्म सब जानने वाले ऐसे कर्तृ सापेक्ष फल होगा याग आदि कर्म का फल लौकिक कर्म सो अनेक विधेष्व भी मध्य सेवा याग आदि अनुरूप दृष्टांत इत अभिप्रेत पुनराह लौकिक कर्म तो बहुत प्रकार अनेक विधेष्व कर्म सो मध्य सेवा सेवा के दृष्टांत हो किसके यागादेर अनुरूप दृष्टांत यागादेर अनुरूप दृष्टांत सेवा सेवा भिन्न पद है सेवा यागादेर अनुरूप दृष्टांत यागादि के लिए अनुरूप दृष्टांत योग्य दृष्टांत है सेवा बहुत प्रकार लौकिक कर्म में यागादि के लिए अनुसार योग्य दृष्टांत सेवा इस अभिप्राय से पुनरह सेवादिव सेवादि कर्म अनुरूप परज्ञ सेव्य बुद्धि में सेव्य से जैसे फल मिलता है सेवा आदि आगे भाष्य में सेवादि कर्म अनुरूप फलज्ञ सेव्य बुद्धि संस्कार फल फलस्यैव सेवादि कर्म अनुरूप सेवादि जो कर्म है सेवादि किसने कर्म किया उसके अनुरूप फल को जो जानता है ऐसा सेव्य सेव्य बुद्धि में संस्कार किसने क्या कर्म किया था उसके अभिषेक फल जैसे होता है सेवकों को प्राप्त होता है इसी प्रकार याग आदि कर्म का फल भी सेव्य होगा ईश्वर याग आदि के द्वारा ईश्वर की बुद्धि में संस्कार होने पर देश काल निमित्त सापेक्ष ऐसे ईश्वर के सापेक्ष फल हो गया याग आदि का तस्माद सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर सर्वजंतु बुद्धि कर्म फल विभाग साक्षी सर्वभूतांतरात्मा टीका में से से सेवादि कर्मानुरूपम फलम जानाति यह सेव्य सेवादि कर्म के अनुसार कोई सेवा करता है युद्ध आदि कर्म करता है कुछ राज्य करता है राजा जानता है यह सेव्य राजा आदि तद बुद्धो यह संस्कार बुद्धि में संस्कार है बुद्धि का विषय होना जानता है किसने क्या कर्म किया किस कर्म का कितने क्या फल होगा तद अपेक्षा फलस्य सेवादि यथा सेवादि का फल इस तत्सापिच न स्वातंत्र्यम स्वतंत्र नहीं सेवा करने से अपने आप फल मिल जाता कर्म से तद्वत इस प्रकार याग करने पर कोई है बुद्धि में संस्कार जानने वाला देश काल निमित्त को जानने वाला फल देगा कर्म किसने किया उस उसको फल मिलेगा एवं ताव आगे भाष्य में इतर्थ हुआ सिद्ध सर्वज्ञ ईश्वर सर्वजन तो बुद्धि कर्म फल विभाग साखी सारे जंतु की बुद्धि कर्म फल के विभाग को जानने वाला साक्षी है बुद्धि में क्या विचार करता है क्या कर्म करता है कर्म क्या क्या फल उसका विभाग भी किसने क्या कर्म किया किस कर्म का क्या फल कभी किस कर्म का फल भोग करेगा ये सब कुछ जानने वाला साक्षी साक्षी है वो फल देने वाला वो यदि कहीं वैकुंठ में बैठेगा कैसे सब सर्वभूतांतरात्मा हृदय से हृदय से जुन तिष्ठति आपके अंदर है सर्वभूत के अंतरात्मा केवल आपके शरीर नहीं सारे भूत के अंतरात्मा रूप से स्थित है इसलिए वो जानता है किसने क्या कर्म किया छिपा नहीं सर्वभूता सर्वभूतानाम अंतरात्मा एक ही ईश्वर सारे भूत का अंतरात्मा वो कोई अलग नहीं अंतरात्मा रूप से हुई है यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरित सत्य ने कहा जो साक्षात अपरोक्षात अपरुषाद का तो अपरुक्षम साक्षात अपरुक्षम कोई प्रमाण व्यापार के बिना मोक्ष अपरोक्ष है ब्रह्म स्वयं स्वरूप स्वयं ब्रह्म के लिए परोक्ष तो होता है किंतु प्रत्येक आत्मा अपरोक्ष है वही ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतर जो अपरोक्ष ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर जो सब के अंदर है जो आत्मा है वही अपरोक्ष वही ब्रह्म साक्षात श्रुति अति स्पष्ट टीका में एवं तावत निरीश्वरवादिनम प्रतिश्वरम प्रसाद्य निरेश्वरवादी है पूर्व मीमांसक ईश्वर नहीं मानते कर्म से फल मिल जाएगा उनके प्रति ईश्वरम प्रसाद्य ईश्वर सिद्धि करके शेषरवादी नाम अभिमत अभिमत वास्तव भेद निराशाय प्रक्रमते नया न्याय वैशेषिक मत में ईश्वर माना गया है उसे ईश्वर शेषर ईश्वर न सह जगत है ईश्वरेण स शेश्वर शेश्वरम थी इति शेश्वरवादिन सारे जगत शेश्वर ईश्वर है सृष्टि करता है परमाणु आदि नित्य है ईश्वर जगत बनाते हैं ऐसा मानते हैं उनके अभिमत क्या है ये अलग-अलग जीव है ईश्वर से भिन्न है जीव से ईश्वर भिन्न जीव भी सब भिन्न है जैसे लोक में प्रसिद्ध है तो क्या कहते हैं वास्तव भेद जीव में वास्तव भेद जीव में वास्तव भेद भेद दिखता है जरूर सब लोग जानते चैत्र मैत्र से भिन्न मैं मेरे से ईश्वर भिन्न ये ज्ञान होता है किंतु ये ज्ञान होता है तो भेद ज्ञान होता है जरूर तो भेद वास्तव है पारमार्थिक या नहीं ये कैसे निश्चय होगा दिखता है चंद्र छोटा है दूर से दिखता है चंद्र छोटा है जितने बड़ा दिखता है चंद्र इतने बड़ा है या उससे छोटा है है छोटा है बड़ा है नक्षत्र जो दिखता है जितने बड़ा दिखता है उससे बड़ा है नक्षत्र या छोटा है तो प्रत्यक्ष दिखने पर भी भ्रांति काल में राज्य में सर्प दिखता है यदि बहुत लोग सर्प ज्ञान हो जाए राज्य में तो यथार्थ सर्प होगा ना नहीं हैं यथार्थ है ना नहीं क्या नहीं यथार्थ हैं राज्य में सर्प यथार्थ नहीं नहीं बहुत लोग देखेंगे तो जितने लोग देखे हाथ पर किसका टूट गया तो भी सर्प यथार्थ नहीं आ, तो ये भ्रांत प्रत्यक्ष दिखता है भेद किंतु ये लोग कहेंगे घट दिखता है दिखता ना नहीं तो घट को मिथ्या वेदांत कहें घट मिथ्या वो कहते घट मिथ्या के साफ दिखता है साफ जो दिखता है वो मिथ्या है तो साप दिखता है साफ दिखता है किंतु घट में सत्य तो दिखता है क्या घट दिखता है सत्य तो त्रिकाला बाध्यत्वम तीनों काल में बाध नहीं होगा जब रज्जु में सर्प देखते उस समय लगता है ये थोड़ी देर के बाद बाध हो जाएगा ये तो रज्जु है ऐसा मालूम होता है मालूम हो तो कोई दौड़ कर भागेगा वो सर्प समझ के बनाता है सत्य सर्प है दौड़ कर भागते हैं इसी प्रकार देखते समय तो लगता है त्रिकाला बाध्य जैसे किंतु तीनों काल में बाध नहीं होगा एक ऐसे निश्चय होगा घट दिखता है इसमें सत्य तो नहीं दिखता है इसी प्रकार जो पदार्थ दिखता है दिखने मात्र से सत्य हो जाएगा तो स्वप्न में भिखारी भी राजा बन जाएगा कहीं स्वप्न देखा मैं इंद्र बन गया सुबह उठकर सबको जाकर कहेगा स्वप्न देखा मैं सम्राट बन गया राष्ट्रपति बन गया दूसरे दिन जाकर के राष्ट्रपति के सामने बैठ जाएगा हो जाएगा स्वप्न देखने से सपने में दिखने पर कुछ नहीं होता है ऐसे पर दिखने पर क्या होगा भेद तो दिखता है वास्तव नहीं है तो ये मानते हैं जीवों का परस्पर भेद जीवेश्वर का भेद वास्तव अभिमत वास्तव भेद मां भेद का ज्ञान होता है किंतु भेद वास्तव नहीं है भेद निराशा है प्रक्रमता आरंभ करते हैं यह भी आरंभ करेंगे करते हैं जो भेद दिखता है तो जरूर है जीवों का परस्पर भेद दिखता है जीव ईश्वर का भेद दिखता है किंतु भेद वास्तव नहीं है लोग मानते हैं वास्तव जैसे राज्य में सर्प देखने वाला भ्रांति से दौड़ता जब उथन सर्प को वास्तव मानता है कल्पित मानता है वास्तव मानता है और मरु में जल देखकर पानी पीने के दौड़ता है उस समय जल को वास्तव मानता है वास्तव मान कर जाता दौड़ता है ये वास्तव मान से वास्तव नहीं होता है स एव च आत्मा जंतु नाम जो ईश्वर सब कर्म प्राणियों के कर्म फल देने वाला वही ईश्वर अत्र आत्मा जंतु नाम जंतु नाम आत्मा सब जीव का आत्मा वही है वही कैसे आत्मा होगा वो तो फल देने वाला अन्य होगा श्रुति कहते नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता अतः का ईश्वर से अन्य दृष्टा दर्शन करने वाले श्रवण करने वाले मनन करने वाले ज्ञाता कोई दूसरा है नहीं श्रुति स्पष्ट कहती जो दृष्टा श्रोता मंता रूप से जीव अलग-अलग दिखते हैं परमात्मा से भिन्न है ही नहीं जिस प्रकार एक श्रुति नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ये अलग श्रुति है और इसी प्रकार की श्रुति नान्य दतोस्ति विज्ञात्री दृष्टि श्रोत्रि मंत्री विज्ञात्री एक में पुल्लिंग है दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता और दूसरी श्रुति में नान्य सि दृष्टि श्रोत्रिमंत्री विज्ञात्री विज्ञात्री ये तृतीय अध्याय के सप्तम पाद में नान्योत्तोसी दृष्टा और तृतीय अध्याय के अष्टम में आता है ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण में बृहदारण्य में नान्य दत्तोसी विज्ञात्री इत्यादि आत्मांतर प्रतिषेध श्रुते आत्मांतर का प्रतिषेध क्या अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता दूसरा आत्मा है ही नहीं परमात्मा से भिन्न दूसरा अंतर आत्मा है ही नहीं आत्मा अंतर अन्य आत्मा का प्रतिषेध कर दी श्रुति नान्यो अतोष्टि का अतकात परमात्मा न अन्यो आत्मा है ही नहीं और तत्वमसि इति च आत्मतोपदेशात् जीव को उपदेश का तुम ब्रह्म हो तत्वमसी नहीं मृतपिंडः कांचनात्मत्वेन उपदिश्यते मिट्टी को कहा जाएगा सुवर्ण है घड़ को कोई कहता तुम सुवर्ण हो तुम ब्रह्म हो उपदेश किया जाएगा जीव को कहते से तुम ब्रह्म हो वास्तव ब्रह्म नहीं हो तो उसको ब्रह्म कैसे कहेंगे नहीं मृत्युपिंड कांचनात्मत्व उपदिश्यते मिट्टी को कोई सुवर्ण नहीं कहता है प्रामाणिक व्यक्ति जीव को से कहती श्रुति प्रमाण है ऐसे वही ब्रह्म है एक ही है टीका में जीव ईश्वराद भिन्न तद विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् यो यद विरुद्ध धर्माक्रांत सततो भिन्न यथा आस्वान महिष इत अनुमान उद्भाव्य तस् भेद निंदानुपपत्ति अनुगृहित अवेद श्रुति विरोधात कालात्यापदिष्टत्वम आह तार्किक लोग कहते वेदांत में खाली वेदांत में जीव ब्रह्म एकदा कहते हो थोड़े तर्क पढ़ो समझो साफ साफ ज्ञान होता है भिन्न है अनुमान देखो अनुमान से सिद्ध हो जाता है जीव ईश्वर का भेद है जीव है ईश्वरादि भिन्न साध्य क्या होगा ईश्वर भिन्नत्वम पक्षे जीव हेतु तद विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् जीव विरुद्ध धर्म युक्तत्वात् जीव में जो धर्म उससे विरुद्ध धर्म ईश्वर में विरुद्ध धर्म उनसे भिन्न होगा क्योंकि यो यद विरुद्ध धर्माक्रांत सतत भिन्न व्याप्ति जो जिससे विरुद्ध धर्म युक्त होता है वो उससे भिन्न होता है यथा अश्वात महिष अश्व से महिष भिन्न है अश्व में जो धर्म से विरुद्ध धर्म अश्व में सिंह कितने है महिष में है हाँ, अश्व के विरुद्ध धर्म महिष में अश्व का महिष में अलग-अलग और भेद है सबको मालूम है अश्व से महिष में जैसे विरुद्ध धर्म है अश्व का पुच्छ महिष का पुच्छ अश्व का शरीर महिष का देह सब में भेद है विरुद्ध धर्म युक्त होने के कारण ऐसे घोड़ा से महिष भिन्न होता है बर्फ से अग्नि भिन्न है विरुद्ध आक्रांत दहन तुई तो न बत दहने वन्नी ही नहीं तो बर्फ दोनों में भेद है विरुद्ध धर्म है एक में शीत स्पर्श एक उष्ण स्पर्श यो यद विरुद्ध आक्रांत यह महिष अश्व विरुद्ध धर्म से युक्त है स महिष तत्व अश्वाद भिन्न अतः यो वन्नी यद विरुद्ध आक्रांत बर्फ से विरुद्ध धर्म बर्फिसित उष्ण स्पर्श आक्रांत विशिष्ट है एवनि स बर्फ से वन्य भिन्न है ये व्याप्ति हुई दृष्टांत हो गया सातमय स वन्य से बर्फ भिन्न है इसी प्रकार जीव ईश्वर से भिन्न होगा क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध धर्म से विशिष्ट है जीव ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य मुक्त अजीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जन्म मरण वाला है बद्ध है विरुद्ध धर्म आक्रांत होने से ईश्वर से भिन्न होगा अनुमान उद्भाव्य तस्य अनुमान तो कह देता है ठीक है अनुमान वेदांति कहते अनुमान तो पढ़ो उसके बाद हेतु आवास ही पढ़ो हेतु आवास पढ़ने पर अनुमान में क्या दोष इसको भी जानना चाहिए उसको नहीं जान करके कोई अनुमान करेगा वन्य नहीं अयोगोलक धुआंवान वन्य अयोगोलक लोह पिंड को लाल कर दिया तो कोई तार्किकार बोला लोह पिंड लाल हो गया अग्नि से तो जरूर धूम होगा लोह पिंड लाल हो गया अग्नि से तो उसमें धूम निकलेगा धूम है निकला है क्यों क्योंकि बनी व्याप्ति कैसे देखो हम व्याप्ति बता जहां जहां बनी है वहां वहां धूम निकलता है देखो मानस में देखो जब बनी लगा धूम निकला और जहां धूम नहीं वहां बनी नहीं हृदय देखो हृदय से धूम नहीं निकलता बनी भी नहीं है व्याप्ति बता दिया इसलिए लोहा को गर्म कर लाल हो गया जरूर धूम निकलता है मानना पड़ेगा ना नहीं ये व्याप्ति बता देने से भी जाकर देखो आयुगल में धूम है या नहीं नहीं तो ऐसा अनुमान करेगा क्या करेगा वन्य अनुष्ण शीत स्पर्श वाला है क्योंकि द्रव्य है जैसे जल वन्य को छोड़कर कोई उष्ण स्पर्श वाला है क्या लोहा को पानी को गर्म करे तो वन्य के कारण गर्म होता है और तो कोई नहीं और जलादि शीत स्पर्श वाला है वन्य भी शीत स्पर्श वाला है क्योंकि द्रव्य है जैसे जल है यत्र द्रव्यत्वम ततत शीतस्पर्श यथा जल यत्र शीतस्पर्श नास्ति तत्र द्रव्यत्व नास्ति यथा रूपरस रूप में शीतस्पर्श नहीं हो द्रव्यत्व नहीं व्याप्ति बता दिया अब अन्य को पकड़ लो कितना ठंडा लगता है देखो तो स्पर्शन प्रत्यक्षण बाधित हो जाता है इसको बाधित बाधित होने से वो जितने अनुमान वाक्य प्रयोग करो जितने तर्क पढ़ लो वाक्य कहने से कोई वाणी में शीतस्पर्श ज्ञान आपको हो जाएगा वनी गर्म लगता है तो वो वाक्य कहेगा वनी रनुष्णतर पे तो आत बड़े तर्क कहेगा तो कोई मान लेगा नहीं सकता इसी प्रकार यहाँ श्रुति प्रमाण से बाधित है तुम्हारा अनुमान सिद्धांत कहता है क्या है तस्य भेद निंदा अनुपपत्य अनुगृहित अभेद श्रुति विरोधात कालात्य कालात्य अपदिष्ट बाधित है बाधित क्यों है किसके द्वारा श्रुति विरोधात बाधितम श्रुति है अभेद श्रुति अभेद को बोलने वाली श्रुति और अभेद कहने वाली जो श्रुति है उसका अनुग्राहक है अर्थापत्ति भेद निंदा अनुपपत्ति अनुग्रहित श्रुति का अनुग्राहक है दूसरा प्रमाण भेद की निंदा की मृत्यु से मृत्यु में अपने यह नानैव पश्यति भेद निंदा की जो की गई निंदा अभेद की में ना भेद की निंदा नहीं होगी इसे अनुग्रहित होते अभेद श्रुति अभेद श्रुति के विरुद्ध से अनुमान बाधित है बाधित को कालाते अपदिष्ट कहते काल से अतेन अपदिष्ट काल समाप्त हो गया कहा गया उत्पत्ति काल में द्रव्य में गुण नहीं रहता है ये मानते तार्किक लोग तो थोड़े देर बाद में कोई क्या घटो निर्गुण घटत्वात् उत्पत्ति कालवत उत्पत्ति काल में घट जैसे निर्गुण है बाद में भी घट निर्गुण होगा ये बाधित होता है घट में गुण है प्रत्यक्ष दिखता है रूप बाधित निर्गुण कैसे होगा उत्पत्ति काल में निर्गुण ठीक है कालात्य कालस्य तेन उत्पत्ति काल समाप्त होने पर ये तुम्हारा अनुमान प्रयुक्त हुआ अपदिष्ट कथन किया गया उत्पत्ति काल में निर्गुण हो सकता है अन्य काल में निर्गुण नहीं उसको कहते बाधित बाधित को तार्क्य में इसे शास्त्र में कालात्या अपदिष्ट इसे कहते कालस्य अत्य जिस समय जो है उस काल समाप्त होने के बाद कहा गया तो बाधित है बाधित जिस प्रकार वन्य में कोई शीत स्पर्श अनुमान करेगा प्रत्यक्ष से बाधित हो जाता है ऐसा अनुमान से अनुमित ज्ञान नहीं होती है साध्य सिद्धि नहीं होगी शीत स्पर्श जो गर्म लगता है शीत स्पर्श ज्ञान नहीं होता है इसी प्रकार अनुमान तुम्हारा तुम्हारे पास रखो भेद निंदा अनुपत्ति से अनुगृहित अवेद श्रुति है तत्वम से आदि उसके विरुद्ध होने के कारण तुम्हारा अनुमान बाधित है भाष्य में कहा दिया नहीं मृतपिंड आत्मा उपदिशत इसलिए एक है ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्त अमुक्त भेदाद आत्मभेद वेति न भेद दृष्टि अपवादाद इतने पूरा संग्रह सूत्र है इसमें पूरा पेशिका है ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्ता मुक्त भेद आद भेद वेति चेत सिद्धांतिकता न भेद दृष्टि अपवादात पूर्व पीछे कहता दोनों में भेद है ज्ञान शक्ति ज्ञान दोनों का भिन्न है ईश्वर का ज्ञान सर्व विषय का जीव ज्ञान अल्प विषय का ईश्वर की शक्ति बहुत अनंत स्थिति है जीव की कोई शक्ति नहीं स्वल्प शक्ति ज्ञान भेद शक्ति भेद कर्म भेद एक ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला अजीव है कि थोड़ा सा अपने रोटी बनाने में सामर्थ्य नहीं कभी सबको मन बना नहीं आता है भोजन बनाते हैं नहीं बना पाएगा इससे स्वास्थ्य खराब तो चल नहीं पाएगा और खड़ा होना बैठना भी मुश्किल है ये जीव का कर्म और ईश्वर होता उपास्य जीव होता उपासक ईश्वर होता शुद्ध जीव होता अशुद्ध ईश्वर सर्वज्ञ शुद्ध है जीव अशुद्ध है पाप नरक आदि जाता है ईश्वर मुक्त है नित्य अजीव अमुक्त अबद्ध है ये सब भेद है दोनों में विरुद्ध धर्म है भेदात आत्मभेद एव इसलिए भेद आत्मा भेद जीवात्मा ईश्वर से भिन्न जीवों का भी परस्पर भेद है कोई किसी में ज्ञान अधिक है किसी में कम है किसका कर्म क्या है किसका कर्म अलग है कोई शुद्ध कोई अशुद्ध तो मुख्य यहाँ जीव ईश्वर का भेद यदि छेद सिद्धांतिकता न भेद दृष्टि अपवाद भेद दृष्टि की निंदा की निंदा की गई भेद ज्ञान दृष्टि ज्ञान भेद ज्ञान की निंदा की गई यदि भेद वास्तव है तो भेद ज्ञान की निंदा नहीं होनी चाहिए भेद ज्ञान की निंदा हुई इसे भेद वास्तव नहीं है ये संग्रह वाक्य हुआ उसकी व्याख्या है टीका में संग्रह वाक्यम विवृणति संग्रह वाक्य का विवरण करता है विवृणति यदुतम यहां से यदुतम से ये संग्रह वाक्य की व्याख्या है संग्रह वाक्य कहाँ से हुआ ज्ञान शक्ति से लेकर के अपवादा भेद दुष्ट अपवाद यहाँ तक ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्धा शुद्ध मुक्ता मुक्त भेदाद आत्म भेद वेति न भेद दृष्टि अपवादात सिद्धांत के वाक्य कितने हाँ, न को लेकर के न भेद दृष्टि अपवादात यह अभी पूर्वपक्षी वाक्य की व्याख्या करेंगे और सिद्धांति व्याख्या तो यहाँ यही सिद्ध करेंगे जीव ईश्वर भिन्न नहीं पूर्वपक्षी कहता है भिन्न विरुद्ध धर्म आक्रांत होने से भिन्न है अनुमान टीका में दे दिया जीव ईश्वर आदि भिन्न तद विरुद्ध धर्म आक्रांतत्वात् विरुद्ध धर्म युक्त होने के कारण ईश्वर के विरुद्ध धर्म जीव में ईश्वर तो सर्वज्ञ जीव अल्पज्ञ अलग-अलग सो धर्म विरुद्ध धर्म होने से वो ईश्वर से भिन्न होगा यह अनुमान उसका सिद्धांत कहता है ये श्रुति से बाधित है अश्रुति श्रुति का अनुग्रह भेद निंदा तो भेद दृष्टि का अपवाद करने से निंदा करने से अभेद में तात्पर्य श्रुति का भेद वास्तव नहीं है वो उसका स्पष्टीकरण आगे है ओम आप्यायन